और याद करो जब तुमने कहा ए मूसा हम एक ही खाने पर हरगिज सब्र नहीं कर सकते लिहाजा हमारे लिए अपने रब से दुआ कीजिए कि हमारे लिए वो चीजें निकाले जो जमीन उगाती है इसका साग और ककड़ी और गेहूं और मसूर और प्याज मूसा सलाम ने फरमाया क्या तुम बदले में लेना चाहते हो वो चीज जो अदना है उस चीज की जगह जो उम्दा है जाओ किसी शहर में उतर जाओ तो बेशक तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुमने मांगा और उन पर जिल्लत और मोहताजी मुसलत कर दी गई और वो अल्लाह के गजब के मुस्तक हो गए ये इसलिए हुआ कि वह अल्लाह की आयतों का इनकार करते रहते थे और अम्बिया को नाहक कत्ल करते थे ये इस वजह से था कि वो नाफरमानियां करते थे और हद से बढ़ जाया करते थे